पहला प्रश्न भगवान उपनिषद वाणी तेन त्यक्तेन भंशिता का आप समर्थन करते भोग और फिर त्याग अगर त्यागना ही है तो भोग क्यों भोग की बात ही क्यों उठानी धर्म शरण दास जीवन विरोधों से निर्मित है यहां रात नहीं हो सकती दिन के बिना और जीवन नहीं हो सकता मृत्यु के बिना जीवन द्वंद है जीवन द्वैत है द्वैत के बीच जो तनाव है वही जीवन का आधार है इसलिए जो द्वंदातीत हो गया फिर उसका कोई जीवन नहीं फिर उसका कोई आवागमन नहीं त्याग और भोग इसी द्वंद का एक अंतरतम पहलू है एक आंतरिक जगत इसी दुई का इसी द्वंद का अगर भोगा नहीं तो त्याग का तो अर्थ भी समझ में ना आएगा त्याग में अर्थ ही क्या है भोग का अनुभव ही त्याग में अर्थ डालता है जिसने अंधेरा नहीं देखा वह रोशनी को पहचान सकेगा लाख बरसती रहे रोशनी सूरज से और चांद से और तारों से मगर जिसने अंधेरा नहीं देखा उससे रोशनी का कुछ पता ही न चलेगा प्रकाश की परिभाषा ही न बनेगी प्रकाश की परिभाषा ही अंधकार से बनती है अंधकार की लक्ष्मण रेखा खींचे बिना तुम प्रकाश के वर्तुल को पहचान ना पाओगे इसलिए अंधकार एकदम व्यर्थ नहीं व्यर्थ इस संसार में कुछ भी नहीं व्यर्थ भी व्यर्थ नहीं क्योंकि व्यर्थ का बोध ही सार्थक के अनुभव में ले जाता है जिसने असार को असार की तरह पहचान लिया उसे सार के मंदिर का द्वार मिल गया तुम कहते हो जब त्याग नहीं है तो भोग की बात ही क्यों लेकिन त्याग का विचार ही कैसे उठेगा त्याग का विचार कहां से उठेगा भोग की पीड़ा ही त्याग का विचार बनती है भोग का दंश भोग का नरक भोग को भुगतोगे नहीं तो त्याग का आयाम ही आवृत रह जाएगा आच्छादित रह जाएगा द्वार खुलेंगे नहीं द्वार पर तुम चोट ही तब करोगे जब भोग की पीड़ा इतनी सघन हो जाएगी कि और न सह सकोगे जैसा मैंने कहा कि जीवन द्वंद है हर पहलू पर द्वंद वैसे ही इस वक्तव्य का भी दूसरा पहलू है तेन त्यक्तेन भुंजिता इसका अर्थ ऐसे तो साफ है कि जिसने भोगा उसने छोड़ा तेन त्यक्तेन उसने त्यागा भुंजिता जिसने भोगा जिसने भोग को जाना उसने त्यागा ये एक पहलू दूसरा पहलू यह है जिसने त्यागा उसने ही भोगा तेन त्यक्तेन बुझी था छोड़ा जिसने भोगा उसने एक संसार का भोग है जो पीड़ा देता है क्योंकि भ्रांति पर निर्मित है आकांक्षाओं अभिप्साओं की मरीचिका पर निर्मित है दूर के ढोल सुहाने लगते हैं तो जैसे ही तुम पास पहुंचते हो पानी के बबूल सिद्ध होते जब तक नहीं मिलता कुछ जब तक दूरी बनी रहती तब तक आकर्षण बना रहता मिला कि आकर्षण गया पास आए दूरी क्या मिटती है पानी की आकांक्षा पर भी पानी फिर जाता है हाथ में लगते ही कोई चीज व्यर्थ हो जाती और के पास हो तो सार्थक अपने पास हो तो व्यर्थ पड़ोसी के बगीचे की घास ज्यादा हरी मालूम होती पड़ोसी की पत्नी भी ज्यादा सुंदर मालूम होती पड़ोसी के बच्चे भी ज्यादा बुद्धिमान मालूम होते हैं निकटता से देखोगे बस भ्रम टूट जाता है भोग संसार का टूटना ही है पानी का बबूला है कि मरुस्थल में प्यास के कारण देखा गया जल स्रोत है पलटू कहते हैं सपना यह संसार सपना जब तक चलता है तब तक सच मालूम होता है सपने से ज्यादा सच कुछ और मालूम होता है सपने में कैसी कैसी चीजों पर भरोसा कर लेते हो बिल्कुल बेबूज को भी मान लेते हो सपने में अपनी पत्नी से बात कर रहे हो और अचानक पत्नी नजारत हो गई घोड़े से बात करने लगी इसको भी मान लेते हो पत्थर की मूर्ति चलने लगती सपने में इसको भी मान लेते हो कल मैंने खबर पढ़ी मनीला में एक आदमी रात जोर जोर से चिल्लाने लगा स्काई लैब स्काई लैब सारी दुनिया में हवा गिरने की अब गिरा तब गिरा अब तो गिर भी गया ये गिरने के पहले की बात है अब तो गिर गया समुन्दर में ये आदमी अपने बिस्तर में चिल्लाने लगा स्काई लैब स्काई लैब घर के लोगों ने समझा कि मजाक कर रहा है होगा मजाकी स्वभाव का लेकिन वो सच में ही सपना देख रहा था एक दुख स्वप्न देख रहा था कि स्काईलैब गिरा और घबराहट उसे इतनी हुई कि उसका हार्ट फेल हो गया न कहीं कोई स्काईलैब न कहीं कुछ गिरा भी और वो आदमी मर भी गया वो सपने से जाग ही ना सका आदमी की आत्मा अगर कहीं भटकेगी तो मानती रहेगी कि इसका ही लेफ्ट के गिरने से देह छूटी क्योंकि अब सपने के टूटने का कोई उपाय नहीं और जिसके कारण देह छूट गई हो वो असत्य हो सकता है जिसके कारण मौत जैसी घटना घट गट गई वह असत्य कैसे होगा घबराहट में हृदय की धड़कन बंद हो गई उसकी लेकिन तुम भी सपने में ऐसा ही भरोसा कर लेते हो धन मिल जाता है तो अकड़ जाते हो धन छिन जाता है तो जार जार रोते हो सुबह जाग के बहुत हैरान होते हो कैसे भरोसा कर लिया था इन बातों पर भोग एक सपना है जैसे जैसे जागोगे वैसे वैसे त्याग फलित होगा त्याग जागरण अगर संसार सपना है तो परमात्मा जागरण है लेकिन जागोगे कैसे अगर सोए ही ना इसलिए संसार परमात्मा को जानने की पाठशाला है इससे दुश्मनी नहीं करनी इससे कुछ सिखावन लेनी इससे कुछ पाठ लेना है यह विश्व वस्तुतः विश्वविद्यालय है और जो यहां से परमात्मा का पाठ लेकर गए वही उत्तीर्ण हुए जो धन पद प्रतिष्ठा इकट्ठी करते रहे वो सपने में ही भटकते रहे जो इस संसार में जागा नहीं उसने कुछ भी जाना नहीं ये संसार आयोजन है परमात्मा का कि तुम जाग सको लेकिन जगाने के लिए जरूरी है कि नींद को प्रगाढ़ किया जाए इतना प्रगाढ़ कि नींद की पीड़ा इतनी बोझिल हो जाए कि सोना असंभव हो जाए याद करो कभी जब तुम सपना देखते हो मधुर प्रीतिकर तो टूटता नहीं लेकिन जब तुम दुख स्वप्न देखते हो तो जल्दी टूट जाता है दुख को कोई ज्यादा देर अंगीकार नहीं कर सकता क्योंकि दुख अस्वाभाविक है सुख सपना देख रहे हो कि तुम सम्राट हो गए कि स्वर्ण के तुम्हारे महल है कि हीरे जवरात जड़ी हुई सीढ़ियां हैं कि पारस पत्थर का बना हुआ तुम्हारा सिंहासन है जागने की आकांक्षा ही कैसे होगी कोई जगाने भी लगे तो तुम चाहोगे कि रुको भाई झूठ ही सही मगर प्रीतिकर है मधुर है स्वादिष्ट है थोड़ा और स्वाद ले लेने दो तो। मुल्ला नसरुद्दीन रात जोर जोर से बड़बड़ाने लगा किसी से विवाद हो रहा है मुल्ला कहता है सौ ही लेके रहूंगा नहीं संतानबे नहीं नहीं अंठानबे नहीं नहीं निन्यानबे नहीं दूसरा कौन है इसका तो पता नहीं चल रहा है लेकिन पत्नी को ये सुनाई पड़ रहा है मुल्ला जो कह रहा है पड़ा है किसी निन्यानबे के चक्कर में नहीं निन्यानबे भी नहीं कहता सो ही लेके रहूंगा पत्नी ने जगा दिया कि नहा क्यों नींद खराब कर रहे हो कहां का निन्यानबे कहां का सौ दुकान कर रहे हो क्या रात भी पिंड नहीं छोड़ते ग्राहक तुम्हारा अब रात तो कम से कम शांति से सो मुल्ला बहुत नाराज हो गया मुल्ला ने कहा सब खराब कर दिया बात बिल्कुल तय होने के करीब थी अब बीच में मत बोलना आंख बंद कर ली और बोला कि हाँ भाई वापस लौट आओ मगर अब कौन वापस लौटे बहुत करवट ली बाएं लेटा दाएं लेटा फिर पत्नी पे टूट पड़ा कहा तू भी कोई जगाने का समय होता है हर बात का समय होता है जरा रुक जाती सौ पर बात टिकी जाती थी एक देवदूत प्रकट हुआ था और कह रहा था मांग ले क्या मांगता है तो उसने सौ रुपये मांग रहा था वो भी कंजूस पक्का था एक से शुरू किया किसी तरह निन्यानवे तक राजी हुआ था बस अब एक की बात और रह गई जरा सी बात सौ रुपये हाथ में होते और अब मैं आंख बंद करके भी कह रहा हूं कि भाई लौटा यहां तक भी कि चल निन्यानवे ही सही मगर कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा है सपने फिर से नहीं जोड़े जा सकते टूटे सो टूटे फिर तुम कितनी ही करपट बदलो भोग एक सपना है एक बार टूटे तो त्याग फलित होता है और फिर त्याग एक नए भोग का प्रारंभ है परम भोग का परमात्मा के भोग का भोग है झूठा मिथ्या धन का पद का प्रतिष्ठा का सब सपनों के नाम है फिर एक और भोग है परमात्मा का अस्तित्व का सत्य का रसो वैसा फिर उसका रस पीना तो एक पहलू है कि जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा और इसका मैं दूसरा पहलू भी तुमसे कह दू जिन्होंने त्यागा उन्होंने भोगा और ये दोनों ही अंग समझ लेने जरूरी दोनों को समझोगे कि दोनों के पार भी हो सकोगे जो दोनों के पार हो जाता ना भोग ना त्याग वो द्वंद के पार हो गए उसे हम गुणातीत कहते द्वंदातीत कहते वह परम अवस्था है निर्विकल्प समाधि की निर्बीज समाधि की मगर तुमने अगर जल्दबाजी की कच्चे कच्चे तुमने कहा कि जब त्यागना ही है तो फिर भोगना क्या तो तुम्हें त्यागना ही है ये ख्याल कैसे आया कांटा गड़ा नहीं और कांटा निकालना है ये ख्याल कैसे आया जरूर किसी कांटे लगे हुए आदमी की बात सुन ली होगी जिसे कांटा लगा जिसने कांटे की पीड़ा जानी जिसने कांटा निकाला और कांटा निकालने का सुख जाना उसकी बात सुन ली होगी किसी बुद्ध पुरुष की मिल गए होंगे कोई पलटू कोई कबीर कोई नानक उनकी बात सुन ली होगी उधार बात पकड़ ली उनको कांटा लगा था तो पीड़ा थी कांटा निकाला तो सुख पाया तुम्हें कांटा ही नहीं लगा और तुम कांटा निकालने में लग गए कांटा ही नहीं निकालोगे क्या खा तुम बहुत मुश्किल में पड़ोगी तुम कांटा निकालने का धोखा अपने को दोगे कांटा तो होना चाहिए बीमार दवा ले तो स्वस्थ हो जाए और तुम किसी बीमार के स्वस्थ होने की बात सुन के खरीद लाए दवा स्वस्थ होगे तो उल्टे बीमार हो जाओगे और ऐसा ही हुआ इस देश के बड़े से बड़े दुर्भाग्य में एक दुर्भाग्य यह सौभाग्य की बात थी कि यहां बड़े फकीर हुए पहुंचे हुए फकीर हुए लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि ना समझो ने उनकी बातें पकड़ ली और उनकी बातों के आधार पर जीने की चेष्टा शुरू कर दी कांटा टटोलने लगे जो लगा ही नहीं और कांटा छोड़े बिना तो त्याग होता नहीं तो कांटा छोड़ने लगे जो है ही नहीं जो नहीं है उसे कैसे छोड़ोगे तो छोड़ने का पाखंड पैदा होगा फिर इसीलिए ये देश एक तरफ बुद्ध महावीर कृष्ण ऐसे अद्भुत ज्योतिर्मय लोगों की धारा है और दूसरी तरफ बुद्धुओं की एक महान जमात एक तरफ जलते हुए थोड़े से दिए और दूसरी तरफ अमावस की रात ठीक ही है कि हम दिवाली अमावस की रात को मनाते वो इस देश की प्रतीक है दिए जला लिए वो बुद्ध कृष्ण महावीर कबीर नानक पलटू रैदास फरीद दिए जला लिए और अंधेरी रात है अमावस की रात है अमावस की रात में हम दिवाली मनाते हैं ऐसी इस देश की हालत देश में तो अमावस की रात है हाँ कभी कभी कोई दिया जल जाता है और हम उसी दिए के गुणगान में लवलीन हो जाते और भूल ही जाते कि अमावस की रात इससे मिटती नहीं अपनी जगह बनी जब तक कि प्रत्येक दिया जल ना उठे जब तक कि प्रत्येक प्राण जल ना उठे चैतन्य से ज्योतिर्मय न हो उठे तब तक ये रात मिटेगी नहीं पाखंड फैला एक तरफ सदगुरुओं के वचन और दूसरी तरफ पाखंडियों की जमात मुल्ला नसरुद्दीन बीच बाजार में खड़ा अपने गधे को भगवत गीता पढ़ा रहा था भीड़ लग गई भगवत गीता का एक प्रश्न पढ़े और गधा जोर से पैर पटके और सिर है तो मुल्ला कहे ठीक बड़े जल्दी याद कर ली आखिर लोगों से नाराज गया लोगों ने कहा नसरुद्दीन मजाक की भी एक सीमा होती और ये मजाक जरा जरूरत से ज्यादा हुआ जा रहा है गधे को और भगवत गीता पढ़ा रहे गधा और भगवत गीता समझेगा मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा मैंने तो गधों के सिवाय और किसी को भगवत गीता पढ़ते देखा नहीं जब बाकी गधे समझ रहे हैं तो इस गधे का क्या कसूर है और देखते नहीं कि गधा कितना कुशल और प्रवीण एकदम सिर हिलाता पैर भी मारता कहता है हाँ ठीक आगे बढ़ो इतना कंठस्थ हुआ गीता कंठस्थ कर लो कि कुरान कंठस्थ कर लो कि बाइबल कंठस्थ कर लो पाखंडी हो जाओगे अमावस मिटेगी नहीं पूर्णिमा जगेगी नहीं अंधेरा अंधेरा रहेगा और खतरनाक स्थिति हो गई अंधेरा तो बना ही रहेगा और तुम धोखा खाने लगोगे रोशनी का क्योंकि रोशनी की बातें तुम्हें याद हो गई हाँ कृष्ण की बातों में रोशनी है मगर कृष्ण हो जाओ तो नहीं तो वे सब बातें तुम उन्हें दोहराओ तोतों की तरह दोहराते रहो कुछ फर्क न होगा तुम जैसे थे वैसे रहोगे शायद और भी गर्त में पड़ जाओगे क्योंकि अब अहंकार जगेगा ज्ञान का धर्म शरणदास जानोगे कैसे कि त्यागना त्याग की बात ही कैसे उठ सकती है भोग जलाए भोग तड़फाए भोग भटकाए लहु लुहान कर दे तुम्हारे पैरों को तो त्याग में अर्थ आता है तो त्याग का बोध जगता है तो समझ आना शुरू होता है कि अब जागो नींद बहुत ले ली बहुत दुख स्वप्न देख लिए वे सारे दुख स्वप्न ही तुम्हारे जगने का कारण बन जाते इसलिए उपनिषद के वचन की मैं निश्चित ही स्तुति करता हूं अद्भुत वचन है ये तेन त्यक्तेन भुंजी था उन्हीं ने त्यागा जिन्होंने भोगा जल्दी मत करना फल कच्चा टूट टूट जाए कड़वा रह जाता है तिक्त की खट्टा खाने योग्य तो निश्चय ही नहीं फल पके तो मीठा हो जाता है पकने में मिठास भोग को जियो डरो मत भागो मत भगुणों से कोई रूपांतरण नहीं होता भोग को पहचानो भोग एक परिस्थिति है गुरजीएफ ने एक दिन अपने एक प्रमुख शिष्य को कहा कि पेरिस में मेरे कोई तीस शिष्य हैं सबको खबर कर दो कि रविवार को सुबह फला फला जगह ठीक सात बजे मिनट भी देर ना हो मुझे मिले जो जगह वो कोई तीस मील दूर सर्दी के दिन बर्फ पड़ती सात बजे सुबह जंगल के एक चौरस्ते पर मिनट भर भी देर नहीं सबको कह दो कि वहां इकट्ठे हो जाएं कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी कौन चूके चूकने का मन तो बहुत हुआ मगर महत्वपूर्ण बात से चूक जाएंगे तो लोभ बस जागे भागे पहुंचे ठीक वक्त पर कोई साढ़े छह बजे पहुंच गया कोई पौने सात लेकिन सात बजते बजते तो तीसों आदमी वहां मौजूद थे गुरजीएफ ने जिससे ये संदेश भिजवाया था उससे कहा कि और तू सात बजे ठीक मेरे घर आ जा वो थोड़ा जरा हैरान हुआ कि मामला क्या है सात बजे वहां शिष्यों से मिलना है और मुझे सात बजे घर बुला रहे हैं मगर इतना समर्पण ना हो तो सदगुरुओं से साथ नहीं बनता तो वो सात बजे गुरुजेव के वहां उपस्थित हुआ वो तो मस्त सोए हुए थे नौकरने का बैठो अभी तो वो उठे ही नहीं और हैरानी हुई कि वो बेचारे सब जंगल में खड़े होंगे कोई आठ बजे गुरुजीफ उठा एक कागज पर लिख के दिया कि अब तुम जा सकते हो और कुछ नहीं कहना कागज कहा कि जाके शिष्यों को दे दो वो जो इकट्ठे जंगल वो बेचारे सात बजे से राह देख रहे हैं कोई चार बजे उठा है कोई पांच बजे उठा है कोई तीन बजे ही उठाया कोई रात भर सो ही नहीं सका कि सुबह कोई महत्वपूर्ण संदेश मिलना सात बज गए सवा सात बज गए साढ़े सात धुकधुकी लगी सब एक तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं रास्ते पर कोई पता नहीं कोई आता नहीं कोई जाता नहीं उस शिष्य का भी पता नहीं जो खबर दे गया साढ़े आठ बजे घबराहट फैलने लगी पौने नौ बज गए तब कहीं वो शिष्य पहुंचा जाकर उसने चिट दे दी चिट पढ़ी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे घर की तरफ वापस चले तुम पूछोगे यह कोई मजाक था नहीं यह मजाक नहीं था सदगुरुओं के अपने उपाय होते उन तीस में से एक ने भी ये नहीं कहा कि ये क्या जागती है मजाक की भी कोई सीमा होती नाहक हमारी रात खराब करवाई सुबह सर्दी में भटकवाया नहीं लेकिन ये मजाक ना थी ये सिर्फ एक उपाय था एक उपाय है कि क्या तुम विपरीत परिस्थितियों में भी श्रद्धा को बचा सकते हो जबकि संदेह स्वाभाविक हो तब भी क्या तुम श्रद्धा को सुरक्षित रख सकते हो संसार ऐसा ही उस परम गुरु के द्वारा निर्णित किया गया एक उपाय भोग एक उपाय है परमात्मा द्वारा सुनिश्चित तुम्हें ढकेला गया श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करो होश पूर्वक समझो विश्लेषण करो पहचानो संसार की पीड़ाओं से अपनी आत्मा में धार रखो अपने चैतन्य को प्रज्वलित करो यह परिस्थिति चूक न जाए इसलिए मैं तुमसे नहीं कहता कि भाग जाओ भोग को छोड़कर भोग की जरूरत क्या है भोग की जरूरत है क्योंकि भोग से ही त्याग का फूल निकलता है भोग के बिना कोई त्याग नहीं यह आकस्मिक नहीं है कि जैनों के चौबीस ही तीर्थंकर राजपुत्र तेन त्यक्तेन भूंजी था जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हिंदुओं के सब अवतार राजपुत्र बुद्ध भी राजपुत्र इस सब के भीतर एक सुसंगति है थे न तकते न भुंजी था जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा जैसे ही जैसे कोई समाज समृद्ध होता है भोग की व्यर्थता साफ होने लगती है जैसे ही जैसे तुम्हारे जीवन में भोग से पहचान होती है भोग का आकर्षण विदा होने लगता है तब आता है त्याग एक सहज नैसर्गिक त्याग करना नहीं पड़ता हो जाता है हो जाए तब मजा है करना पड़े बात बेमजा हो गई करना पड़े तो उसका अर्थ जबरदस्ती हुई हो जाए तो उसका अर्थ सहज स्वस्फूर्त बोध से हुआ और तब एक नए भोग का प्रारंभ होता है वह परम भोग सच्चिदानंद उसी का नाम है तुम चले देखना यह स्वर्ण होकर मृत्यु का न गले राग है यदि व्यर्थ तो वैराग्य भी तुच्छ है यदि ग्रहण तो है त्याग भी द्वंद है भ्रम द्वंद है तम द्वंद का निशिदूत रस के सहज दलना दले तुम चले देखना यह स्वर्ण होकर मृतिका ना गले नींद भी है सत्य स्वप्निल दोष भी पखड़िया भी सत्य पंकज कोष भी जागरण में या सपन में चेतना जगती रहे तो कौन है कि चले तुम चले देखना यह स्वर्ण होकर मृत्यु का न गले कामना शिव है सदा गति प्रगति की शिव रहे तो भले रति की विरति की शिव सुधाकर सत्य सुंदर तुम कहीं भी रहो फिर भी है सत्य शिव के तले तुम चले देखना यह स्वर्ण होकर मृत्यु का न गले चेतना जगती रहे तो कौन है कि छले असली सवाल है चेतना के जागरण का और जहाँ पीड़ा है वहां जागरण आसान है सुख सुना देता है दुख जगाता है इसलिए जानने वालों ने परमात्मा को धन्यवाद दिया है उन सब दुखों के लिए जो उसने दिए और उन सब सुखों के लिए जो उसने दिए सुख के लिए भी धन्यवाद दुख के लिए भी धन्यवाद और अगर ठीक से पूछो तो दुख के लिए ज्यादा धन्यवाद बजाय सुख के क्योंकि सुख में तो आदमी सो जाए दुख में नहीं सो पाता है जीवन में तो आदमी भूल जाए लेकिन मौत में तो परमात्मा का स्मरण आने ही लगता है पीड़ा में तो प्रार्थना अपने आप उमकती है इसलिए वरदान ही वरदान नहीं है अभिशाप भी वरदान है अभिशाप भी छिपे हुए वरदान है चेतना जगती रहे तो कौन है कि चले त्याग और क्या है जाग कर जीना होश पूर्वक जीना फिर यही संसार परमात्मा बन जाता है तुच्छ समझ मत त्यागो स्वप्न समझ भ्रम समझ न भटको अपना कह अनुरागो त्याग हृदय की दुर्बलता है राग हृदय का धन है त्याग राग के युगल पुलिन में आंदोलित जीवन है अंतर धन को दुर्बलता पर बलि करके मत भागो मन की धारा मुक्त जहाँ चाहे जैसे बह जाए किंतु न अगर बंधे कुलों में तो कैसे गति पाए गति जीवन है जीवन द्रोही राग विराग न मांगो गति के बिना व्यर्थ है सब कुछ गति बिन लक्ष्य कहाँ है रति के बिना तरंगित हो जो ऐसा वक्ष कहाँ है मन की ये उद्दाम तरंगे जीवन रस में पागो त्याग सिमट कर रह जाता है राग फैल लहराता जो विराग में चुप रहता है वही राग में गाता जीवन का संगीत न भूलो जागो जागो जागो न तो प्रश्न भोग का है न प्रश्न त्याग का है प्रश्न है जाग का जागरण का जागृति का धर्म सरदास जल्दी ना करो जीवन में जिसने जल्दी की वो बहुत कुछ गमाता है जीवन को अपनी गति से चलने दो थोपो मत कुछ अन्यथा पाखंड होगा ऊपर ऊपर ओढ़ो मत अन्यथा दुविधा होगी तुम्हारे भीतर ही संघर्ष खड़ा हो जाएगा ऊपर कुछ भीतर कुछ चाहोगे कुछ कहोगे कुछ तुम्हारा जीवन एक संतरास एक संताप हो जाएगा क्योंकि निरंतर अंतर गुंद रहे निरंतर भीतर संघर्ष चले ग्रह युद्ध ही बना रहे भीतर तलवारें ही खींची रहे अपने से ही लड़ाई जारी रहे तो कैसा आनंद कैसा रस कैसा शक्ति शक्ति के लिए तो शांति चाहिए भीतर एक समन्वय चाहिए एक संवेद संगीत की अवस्था चाहिए इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूँ जीवन को जियो हाँ एक शर्त लगाता हूँ जाग कर जियो भोगो जी भर कर भोगो बस जाग कर भोगो यही जाग भोग को त्याग में रूपांतरित कर देती यही जाग इस संसार को परमात्मा में बदल देती यही जाग पत्थर को परमात्मा की प्रतिमा बना देती यही जाग बस काफी है धोखे को तोड़ देने को धोखा वृक्षों में पत्थरों में पहाड़ों में थोड़ी तुम्हारी नींद में है तुम्हारी बेहोशी में तुम्हारी मूर्छा में महावीर से किसी ने पूछा है मुनि कौन आमुनि कौन और महावीर की परिभाषा बड़ी प्यारी महावीर ने कहा असुप्ता मुनि सुप्ता अमुनि जो सोया है वो अमुनि जो जागा है वह मुनि महावीर ने नहीं कहा कि जिसने घर छोड़ दिया वह मुनि पत्नी छोड़ दी वह मुनि धन छोड़ दिया पद छोड़ दिया वह मुनि महावीर ने तो बड़ी ही गहन परिभाषा दी असुप्ता जो सोया नहीं फिर वो कहीं भी हो बीच बाजार में हो तो भी मुनि और जो सोया है हिमालय की गुफा में सोया रहे और सपने देखता रहे तो अमुनि दूसरा प्रश्न भगवान और रहमतें बरसाने वाले और मूक हृदय के स्रोत तुझे कोटि सा धन्यवाद कोटि सा बंधन मात्र तेरे मदिरा ए जाम की आशिक आनंद निष्ठा मधुशाला है यह यहां जो पीने आए हैं बस वे ही आए जो पियक्कड़ होने को तैयार है उनके लिए ही मेरा द्वार है तो पीना चाहती है तो सुराही पर सुराही ढलेगी मगर लोग बड़े कृपण हो गए देने में कृपण हो गए हैं सो तो ठीक लेने में तक कृपण हो गए झोली नहीं फैलाते हृदय नहीं खोलते और ये मदिरा कुछ ऐसी मदिरा नहीं कि प्यालियों में भरी जाए ये तो तुम्हारा हृदय प्याली बने तो ही ढाली जा सकती है ये मदिरा अंगूरों से ढली हुई तो नहीं आत्मा से ढली हुई यह मदिरा ओठों से नहीं पी जाती इस मदिरा को पीने के लिए उपवास सीखना पड़े पास आने की कला सीखनी पड़े उपदेश लेने की कला सीखनी पड़े उपनिषद सुनने की कला सीखनी पड़े ढले की बहुत ढले की पीने पिलाने के लिए ही ये सारा आयोजन है मैं छोड़ चलू मैं रिसने वाले जर्जर घट में क्या क्या जोड़ चलू जो नीर नीर में गले पवन में हलकोरे खाए जिसकी संकीर्ण सीमा में खग बंदी हो जाए मैं गगन मुक्त उस क्षुद्र नीर के तिनके तोड़ चलू मैं छोड़ चलू मैं रिसने वाले जर्जर घट में क्या क्या जोड़ चलू मैं भूल गया था राह चाहे की चंचल वेला में मैं भूल गया था जीवन को लहरों के मेला में जब लक्ष्य मिल गया है तो अपने पथ को मोड़ चलू मैं छोड़ चलू मैं रिसने वाले जर्जर घट में क्या क्या जोड़ चलू मैं चलू तुम्हारी कल्याणी वाणी पाथे रहे जो धे गगन के जो धे नयन के आगे है वह मन में गे रहे ले मर्त इस स्वरों की बीन अमर से लेने होड़ चलू मैं छोड़ चलू मैं रिसने वाले जर्जर घट में क्या क्या जोड़ चलू हृदय को घट बनाना होगा बाहर के सारे घटों में तो बाहर की ही मदिरा भरी जा सकती है और बाहर के सब घट फूटे घट उनमें कुछ भरता नहीं उनसे सब रिस रिस जाता है आत्मा का घट बनाना होगा वही शिष्यत्व है निष्ठा तू ठीक कहती मात्र तेरे मदराए जाम की आशिक लेकिन आशिकी खतरनाक सौदा है प्रेम है मरने की तैयारी उससे कम में काम नहीं चलता इस मदिरा की कीमत अहंकार की मृत्यु से चुकानी पड़ती इस मदिरा की कीमत केवल वे ही चुका सकते हैं जो दीवाने हैं पागल हैं समझदारों का ये काम नहीं होशियारों का ये काम नहीं गणित बिठाने वालों का यह काम नहीं कोड़ी कोड़ी का हिसाब रखने वालों का यह काम नहीं हिज्र की सब नालाए दिल वो सदा देने लगे सुनने वाले रात कटने की दुआ देने लगे किस नजर से आपने देखा दिले मजरूह को जख्म जो कुछ बल बल चले थे फिर हवा देने लगे जमीन कुए जाना कुछ नहीं पेशे निगार जिसका दरवाजा नजर आया सदा देने लगे बागवान ने आग दी जब आज ही आने को मेरे जिन पे था वही पत्ते हवा देने लगे मुठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्त दफन जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे आईना हो जाए मेरा इस उनके हुस्न का क्या मजा हो दर्द अगर खुद ही दवा देने लगे सीना सोझा में साथी घुट रहा है यह धुआं उफ करूं तो आग दुनिया की हवा देने लगे दीवानगी चाहिए ऐसी दीवानगी जुज जमीने कुए जाना कुछ नहीं पैसे निकाल तो उस प्यारे के सिवाय कुछ भी दिखाई ना पड़े सारी गलियां उसकी गलियां सारे घर उसके घर जुज जमीन कुए जाना कुछ नहीं पैसे निकाल जिसका दरवाजा नजर आया पता देने लगे हर दरवाजे पर उसको पुकारने का जिस दिन पागलपन आ जाता अभी तो तुमने उसके भी मंदिर चुन रखे हिंदू एक मंदिर जाता है मुसलमान मस्जिद जाता है सिख गुरुद्वारा जाता है सिख फिक्र नहीं करता हिंदू मंदिर की हिंदू फिक्र नहीं करता मस्जिद की मस्जिद वाले को क्या पड़ी किसी और के मंदिर की तरफ देखे और सब मंदिर तो काफिरों के नास्तिकों के भटके हुओं के ये दीवानों की बातें नहीं ये दुकानदारों की बातें जो जमीन कुए जाना कुछ नहीं पैसे निगाह आंख के सामने जब उसके सिवाया कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ता जो दिखाई पड़ता है वही दिखाई पड़ता है हर गली उसकी गली और हर द्वार उसका द्वार जिस जमीन कुए जाना कुछ नहीं पैसे निकाल जिस पर दरवाजा नजर आया तो पता देने लगे दरवाजा जहाँ दिखाई पड़ा वही प्रार्थना करने बैठ गए वही झूठ गए ऐसी दीवानगी चाहिए तो जरूर तेरा पात्र मेरी मजिरा से भर जाए यहाँ जो हिसाब किताब लगाने वाले लोग आ जाते व्यर्थ आ जाते जो यहाँ अपना सोच विचार लेके आ जाते ना आते तो अच्छा समय खराब करते ये दीवानों की मैसेज ये सत्संग कोई शाब्दिक सत्संग नहीं है ये तो पीने पिलाने की बातें हैं यहाँ तो साहस चाहिए एक बेहोशी है संसार की और एक बेहोशी है परमात्मा की संसार में जो बेहोश सपने में और परमात्मा में जो बेहोश सपने में आ गया संसार की बेहोशी बस बेहोशी अब परमात्मा की बेहोशी बड़ी अनूठी ऐसी बेहोशी है कि होश को बढ़ाती है घटाती नहीं जिस शराब की मैं बात कर रहा हूँ ये तुम्हारे अहंकार को डुबा देगी और तुम्हारे आत्मा का सदर देगी अनेक अनेक दिनों से नृत्य में गीत में संगीत में यही शराब बह रही लेकिन मधुशालाएं लोगों को मंदिर नहीं मालूम पड़ते लोगों को तो मंदिर वे स्थान मालूम पड़ते जहाँ मुर्दा परंपरा की पूजा हो रही जहां सड़ी गली लाशों के ढेर लगी जितनी पुरानी लाश उतनी ही आग्रह बुद्ध जब जिंदा होते तब उनका सत्संग एक मधुशाला होता है बुद्ध जब मर जाते हैं तब मंदिर बनता है मंदिर मुर्दा जब मोहम्मद के ऊँटों पर कुरान होती तो काबा एक मधुशाला होता है मोहम्मद गए कुरान हवा हो गई काबा एक मुर्दा स्थान रह जाता है पूछते रहो जन्म जन्म तक पूछते रहो काबा और कैलाश और गिरनार भटकते रहो एक बूंद भी नहीं मिलेगी अमृत किसी जीवित बुद्ध के पास संभव होती है ये अपूर्व घटना यह चमत्कार यही सबसे बड़ा चमत्कार है पानी पर चलने में कोई चमत्कार नहीं है मूढ़ों को चमत्कार दिखाई पड़ता है पानी के चलने मैंने सुना एक आदमी एक होटल में गया चाय बुलाई नाराजगी में मैनेजर को बुलाया और मैनेजर का देखो थाने में मक्खी चल रही मैनेजर का पक्का ईसाई एकदम घुटने के बल जमीन पर बैठ गया हाथ आकाश की तरफ उठा दी होता है ईसा मसीह तो तुम आ गए इस रूप में आओगे ऐसे न सोचा इतने दिन के लिए चमत्कारों का यही अर्थ होता है पानी बिखर गए हवा में उड़ गए राख प्रकट कर रहे ताबी जो घड़िया निकाल रहे मैं तो सिर्फ एक ही चमत्कार जानता हूं जो शिष्य और गुरु के बीच घटता है उपनिषद एकमात्र चमत्कार है सत्य का एक हृदय से दूसरे हृदय में उंडल जाना एक मात्र चमत्कार है ये मदिरा जो मैं अपनी सुराही में लिए बैठा हूँ तुम्हारी प्याली तक पहुंच जाए लेकिन अवसर दो तुम्हारे कहने की ही बात नहीं हृदय खोलो अखंड श्रद्धा में ही ये संभव हो सकता है संदेह में तो आदमी बंद होता है श्रद्धा में खुल जाता है श्रद्धा में तुम्हारा पाप मेरे सन्मुख हो जाए जिस पर यह घटना घट सकती घटी घटनी चाहिए उसके लिए ये विराट आयोजन चलता है चाहे हजारों लोगों के जीवन में ये घटना घट रहा है एक दो को नहीं पिलाना है लाखों को पिलाना पीने वालों को इतना बढ़ाना है कि ये मस्ती की हवा ये मस्ती का रंग दुनिया को आंदोलित करने लगे जो जमीने कुए जाना कुछ नहीं पैसे निकाह जिसका दरवाजा नजर आया खोल देने लगे जाके ये देखते हैं कि मर जाएंगे मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे आग दुजक की भी हो जाएगी पानी पानी जब ये आसी पर सब में तर जाएंगे हम नहीं वो जो करे खून का दावा तुझ पर बल्कि पूछेगा खुदा भी तो मुकर जाएंगे शोलाए आह को बिजली की तरह चमकाऊ पर मुझे डर है कि वो देख के डर जाएंगे जो जो मदरसे के बिगड़े हुए हैं मुल्ला उनको मैं खाने में ले आओ समर जाएंगे निष्ठा तू तो आई आई और जो बिगड़ गए मदरसों में उनको भी लाभ जो जो मदरसे के बिगड़े हुए हैं मुल्ला उनको खाने में ले आओ समझ जाएंगे उनको भी संभालना है संभालना ही नहीं संभालना भी मेरे सन्यासी को स्मरण रखना है संवरना ही नहीं संवारना भी जागना ही नहीं जगाना भी क्यों क्योंकि जब तुम दूसरों को जगाने में लग जाते हो तो तुम्हारी अपनी जात भी गहन होने लगती जब तुम दूसरों को पुकारने में लग जाते हो तब तुम्हारी आत्मा भी उस पुकार को सुनने लगती जब तुम दूसरों को पिलाने को आतुर हो जाते हो तो फिर तुम पीने में अर्पणता नहीं करते दूसरों को समझाना अपने को समझाने का एक उपाय है इस दुनिया में कुछ भी सीखना हो तो सबसे अद्भुत कला सीखने की सिखाना शुरू करो दिया अपनी खुदी से जो हमने उठा वो जो पर्दा था बीच में था न रहा रहे पर्दे में अब न वो पर्दा नसीम कोई दूसरा उसके सेवा न रहा नखी हाल की जब हमें अपने सबर रहे देखते औरों के ऐबो हुनर बड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर तो निगाह में कोई बुरा न रहा तेरे रुख के ख्याल में कौन से दिन उठे मुझ पे फितना रोजे जजा तेरी जुल्फ के ज्ञान में कौन सी शब्द मेरे सर हुजू में भला न रहा हमें सागर और बाधा के देने में तू तो तेरे देर जो साकी तो हार गजब कि ये कहते निसार ये दौरे तरब न रहेगा जहां में सता न रहा उसे चाहा था मैंने कि रोक रखू मेरी जान भी जाए तो जाने न तू कि ये लाख फरे करोड़ खुशू न रहा न रहा न रहा न रहा, न रहा। जफर आदमी उसको न जानिएगा हो वो कैसा ही साहेब फर्मो जखा जिसे ऐस में याद खुदा न रही जिसे तैस में खौफे खुदा न रहा थोड़े से ही पाठ है कुछ कहो तो एक ही पाठ है अब तूने वही पूछा ठीक ही है जल्दी करो पीने की हमें सांकड़ो बाधा के देने में तू करे देर तो साथी तो आए गजब कि ये ऐसे निशान ये दौरे तरफ न रहेगा जहां में सदा न रहा कौन जाने आज मधुशाला है कल हो न हो कौन जाने आज शराब ढली जा रही कल जले न जले हमें सागर और बाधा के देने में तू करे देव जो साथी तो हाय गजब कि ये ऐसे निशान ये बात रहेगी कि नहीं ये बात रहेगी कि नहीं ये दौरे तरब ये मौसम ये वातावरण ये समय की गति ये चाल ये ऋतु ये दौरे तरब न रहेगा जहां में सदा न रहा इतना तो पक्का है जो तो बुद्ध आते हैं और जाते हैं जो पी लेते पी लेते जो व्यर्थ की बातों में पड़े रह जाते हैं वंचित रह जाते तुमने ठीक पूछा लेकिन एक बात स्मरण रहे साथी की तरफ से कोई भी देरी नहीं देरी हो तो पीने वाले की तरफ से अध्यात्म के जगत में सदगुरु तो बांटने को आतु होता शिष्य ही लेने में आनाकानी करते हजार बहाने खोजते हजार तरकीबें अपने को बचाने की करते क्योंकि मामला मिटने का है मिटना कौन चाहता है बीज भी मिटना नहीं चाहता और जब तक मिटे ना तब तक पौधा पैदा नहीं होता और नदी भी मिटना नहीं चाहती लेकिन जब तक मिटे ना तब तक सागर नहीं बनती अपने को बचाओगे तो उसकी बूंद रह जाओगे तृष्ण को मिटाओ तो सागर हो तुम महासागर हो तुम दिया अपनी खुदी को जो हमने उठा वो जो पर्दा था बीच में था न रहा रहे पर्दे में अब न वो पर्दा न थी कोई दूसरा उसके सिवा न रहा कुछ नहीं है तुम्हारे और परमात्मा के बीच एक जीना सा पर्दा है और वो परमात्मा पे नहीं वो तुमने ही घूंघट कर लिया है तो तुमने ही अपनी आंखों को छिपा रखा है पर्दे हटाओ ये पर्दा घूंघट उठाओ घूंघट के पट खोल तुम्हें पिया मिलेगी पिया मिले ही हुए है मगर तुमने घूंघट अपने जोर से पकड़ रखा है तुमने घूंघट में अपने सारे प्राण लगा रखे हैं मैं तो ढालने को तैयार हूं निश्चय तू मिट जगह पे जगह खाली कर ये शराब ढालू तो कहा ढालू अगर भीतर मैं भरा रहा अगर भीतर अहंकार भरा रहा तो जगह नहीं प्याली को खाली करो मेरी तरफ से जरा भी कृपणता नहीं हूं अति आतुरता तो है क्योंकि तुम्हें पता हो न पता हो मुझे पता है तो ये मौसम सदा नहीं रहेगा ये भी तो सदा नहीं रहेगी जो आज घट सकता है कल की कौन कहे कल कभी आता ही नहीं भगवान आपसे और अधिक सुंदर भगवान की अभिव्यक्ति और क्या होगी पर कभी कभी ध्यान लगने पर आप भी छूट जाते और ध्यान से वापस लौटने पर मन में पीड़ा बनी रहती है कि जिसकी कृपा से ध्यान लग रहा है उनका भी स्मरण भूल जाता हूँ तो कहीं यह उनके प्रति अकृतज्ञता तो नहीं कीर्तन में तो पीड़ा का यह भाव नहीं रहता मुझे ध्यान और भक्ति दोनों में रस आने लगा है पर जब भी आप प्रवचन में इनकी साफ साफ विभाजन रेखा खींचते हैं तो मैं फिर उलझन में पड़ जाता हूँ कृपया इस संबंध में कुछ और कहकर मेरा मार्ग निर्देश करे क्षमा करे प्रश्न पूछना ही पड़ा योग प्रीतम मैं लाख उलझाऊ तुम उलझो मत मैं लाख कहूं कि सात बजे पहुंच जाना पहुंच नहीं मत अगर दोनों में रस आ रहा है तो डूबो दोनों में डूबो दोनों में कुछ ऐसा विरोध नहीं है एक सांस रखने में लिया जा सकते अंततः तो दोनों एक हो जाते हैं लेकिन मैं जो स्पष्ट भेज करता हूँ उसका कारण सभी की इतनी सहमत नहीं कि दोनों को एक साथ संभाल लें एक ही समझ जाए तो बहुत इसलिए स्पष्ट भेद रेखा खींचता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि दो को संभालने में एक भी ना संभल पाए सौ में से नब्बे प्रतिशत लोग एक को ही संभालने तो बहुत एक ही नहीं संभलता दो तो क्या समझेंगे हाँ जिनसे दोनों समझ जाए वे सौभाग्यशाली तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं सब आयाम उसके अंत घटवा मेरी तो चेष्टा यही है कि प्रत्येक से सारे आयाम सब जाए मगर मैं अपनी चेष्टा को इतनी असंभव भी नहीं बना देना चाहता हूँ कि वो किसी के बस के ही जीवन न रह जाए मुझे सबका का ध्यान रखना अंतिम का भी शिक्षक शास्त्री कहते हैं श्रेष्ठ शिक्षक वही है जो इस ढंग से बात करे कि जो सबसे अंतिम विद्यार्थी है उसकी भी समझना आ जाए शिक्षक शास्त्र का यह नियम तुम्हें समझ में आ सकेगा योग प्रीतम विश्वविद्यालय में शिक्षक है शिक्षक को तो ऐसे ही बोलना चाहिए कि अंतिम की समझ में आ जाए अगर सिर्फ प्रथम की समझ में आए तो बाकी का क्या हो लेकिन जो अंतिम के लिए बोला जा रहा है वह प्रथम के लिए बंधन नहीं है वही प्रथम को रुक नहीं जाना है वह उसकी सीमा निर्धारण नहीं कर रहा है वह तो केवल अंतिम भी सोया ना रह जाए मैं जब बोल रहा हूं तो अंतिम का ध्यान रख के बोल रहा हूं एक भी न चूके जब हम यात्रा पर निकलते महत यात्रा पर निकलते तो ध्यान रखना पड़ता है कोई किसी न चूक रहा है उसमें बूढ़े हैं बुजुर्ग है उसमें छोटे बच्चे यात्री दल में बीमार है अस्वस्थ है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्वस्थ है बीमार नहीं युवा है उनको भी आहिस्ता आहिस्ता चलना होता है ताकि बीमार भी साथ चल सके अस्वस्थ भी साथ चल सके बूढ़े वृद्ध बच्चे भी साथ चल सके नहीं तो कुछ तो बहुत आगे निकल जाएंगे कुछ लोग पीछे रह जाएंगे उनके बीच का सिद्ध टूट जाएगा और मैं एक संघ का निर्माण कर रहा हूँ इसमें सेतु टूटने नहीं है सेतु बनाने इसमें प्रथम और अंतिम जुड़ा रहे एक श्रृंखला निर्मित करने समस्त बुद्धों ने संघ निर्मित किए एक विशेष कारण बुद्ध तो आज भी कल नहीं होंगे लेकिन एक श्रृंखला पैदा की जा सकती है जो बुद्ध की छाती को उनकी सौगात को उनकी भेंट को संभाल सके थोड़े दूर तक बुद्ध के जाने के बाद भी उनकी रोशनी को ले जा सके जितनी कुशल वह श्रृंखला होगी उतने दूर तक ज्योति को बांटा जा सकता है बुद्ध के जाने के बाद भी संन्यास एक धर्म संघ है यह पेड़ पड़ों की एक जमात है इसमें सब तरह के लोग हैं मैं सबको ध्यान में रखकर बोल रहा हूं इसलिए कभी जब प्रथम को ध्यान में रखते बोलू तो अंतिम चिंतित न हो कभी जब ऐसी बात कहूं कि जो अंतिम की समझ में ना आए तो वो परेशान ना हो मुझे उसका ध्यान है उसके लिए भी कहूंगा उसे भी पहुंचाना है अगर वो न भी चल सका तो डोली और कहार का इंतजाम करेंगे लेकिन उसे भी पहुंचाना कंधों पर ले चलेंगे लेकिन उसे भी ले चलना है कांवर बना लेंगे लेकिन उसे पीछे नहीं छोड़ देना और जब कभी मैं अंतिम के लिए बोलू तो प्रथम को बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं योग प्रीतम तुम्हें अगर भक्ति और ध्यान दोनों में रस आता है दोनों में डबकी लो दोनों अपने भक्ति भी उसका घाट और ध्यान भी उसका घाट एक घाट से उतरो तो भी वहीं तक पहुंच जाता आदमी और तुम्हें दोनों घाटों से तैरना आ जाए कहना क्या रामकृष्ण ने उपलब्धि के बाद भी और और साधना पद्धतियों का प्रयोग किया जिनकी अब कोई जरूरत न थी सिर्फ देखने के लिए कि और भी घाट वही ले जाते हैं या घाट तो बहुत तेरे लेकिन सब वही ले जाते रामकृष्ण ने बहुत से प्रयोग किए छह महीने तक मुसलमान हो गए छह महीने तक मंदिर में नहीं आते थे मस्जिद में रहने लगे थे मूर्ति खाली की मूर्ति जिसको एक क्षण को नहीं बिछा सकते थे छह महीने की बिल्कुल पीट कर ली थी उसकी तरफ क्योंकि मुसलमान के लिए तो मूर्ति गुफ है छह महीने निराकार की प्रार्थना की छह महीने बाद फिर वापस लौटे अपने शिशु को कहा घाट अलग है मगर नाव कहीं से भी छोड़ो वही पहुंच जाती मस्जिद से भी वही पहुंच जाती मंदिर से भी वही पहुंच जाती एक बहुत अनूठा प्रयोग रामकृष्ण ने किया बंगाल में एक संप्रदाय है सखी संप्रदाय जिसको मानने वाले मानते हैं कृष्ण एकमात्र पुरुष है और सब स्त्री है कृष्ण का भक्त अपने को सखी मानता कृष्ण की गोपी मानता मानता ही नहीं ऐसा हृदय पूर्वक अंगीकार करता है ये भौतिक मानता नहीं रामकृष्ण ने इस परंपरा की भी साधना की तो चाहे और मानने वाले ऊपर ऊपर मानते हो क्योंकि आसान नहीं है ये बात मान लेना तुम पुरुष हो और मानो कि मैं स्त्री हूं लाख मानो रह रहे की याद आ जाएगी कि हूं तो पुरुष चाहे स्त्री के कपड़े ही पहन लो तो भी चाल ढाल बता देगी व्यवहार बता देगा कैसे छिपाओगे ये भाव तो बहुत गहरा है हम अपने को शरीर मानते हैं तब तक इस भाव से छूटना आसान नहीं क्योंकि शरीर तो पुरुष है यह स्त्री है जब तक हमारा शरीर से तादाद नहीं है तब तक तुम कितना ही लाख उपरों कर सको कि मैं सखी हूँ गोपी हूँ मगर कोई एक आध धक्का मार देगा कि गोप प्रकट हो जाएगा तो गोपी विदा हो जाएगी कोई पैर पर पैर रख देगा कि सब भूल भाल जाएगा कि मैं सखी हूं कि फेंक छोड़ के कपड़े काल ठोंक के खड़े हो जाओगे मुझ पे ताव देने लगो शरीर से तादात्म होता लेकिन रामकृष्ण जिसमें व्यक्ति इस कल्पना से कोई तादाद नहीं जब सभी संप्रदाय की साधना करने लगे तो स्त्री ही हो गए इस बात के वैज्ञानिक गवाह है डॉक्टरों ने उनकी चिकित्सा की हैरान हुए डॉक्टर उनके स्तन उभर आए भरोसे में नहीं आने वाली बात थी इस शरीर का तादाद में इतना छुप सकता है भाव की गहनता इतनी हो सकती है कि पुरुष के तनु भरा है इतना ही नहीं रामकृष्ण को हर महीने मासिक धर्म शुरू हो गए अकंतरी घटा था इतने भाव से स्वीकृति दी थी कि जब छह महीने बाद सची संप्रदाय की साधना पूरी हुई रामकृष्ण वापस लौटे तो भी जल्दी घटना नहीं घटी बदलाहट की कहते हैं कोई छह महीने लगे तब उनकी चाल वापस पुरुष की हो पाई नहीं तो वो स्त्रियों जैसे चलने लगे कोई छह महीने में वापस उनके स्तन विदा हुए और छह महीने लग गए उनके मासिक धर्म को बंद होने में फिर कहा अपने शिष्यों को गांठ बहुत है मगर सही नाव छोड़ो उसी के किनारे पहुंच जाए उस तरफ उस तरफ किनारा तो भक्ति से चलो कि ज्ञान से बात एक यद्यपि दोनों मार्गों पर अलग अलग चीजों का अनुभव होगा इसलिए योग प्रीतम जब ध्यान लगेगा तो मेरी याद भी छूट जाएगी अगर मेरी याद भी बनी रहे तो ध्यान लगा ही नहीं इसलिए मत सोचना क्षण भर को भी मत सोचना कि कोई अकृतज्ञता हो रही है भूल कर भी कभी ध्यान मत लाना अपराध कहा होगा कि मेरे प्रति कोई अवज्ञा हो रही ध्यान का तो अर्थ ही यही है कि वहाँ सब छूट जाएगा जब सब विचार छूट जाएंगे तो मेरी याद कैसे करोगे याद भी तो विचार है जब निर्विचार घटित होगा तो उस निर्विचार में तो परमात्मा का विचार भी नहीं रह जाएगा गुरु की तो बात छोड़ो प्रभु की भी स्मृति नहीं रह जाएगी यही तो कारण है कि ध्यान के जो संप्रदाय हैं जैसे जैन जैसे बौद्ध उनमें ईश्वर को कोई जगह नहीं इसका ये कारण नहीं है कि ईश्वर नहीं है इसका केवल इतना ही कारण है कि ध्यान के मार्ग पर ईश्वर के आलम्बन की कोई आवश्यकता नहीं आलम्बन की ही आवश्यकता नहीं एक रास्ते से जाओगे पहुंचोगे पहाड़ की उसी चोटी पर लेकिन दृश्य तो रास्ते के अलग होंगे जैसे गौरी शंकर पर्वत पर अलग अलग दिशाओं से चढ़ाइया हुई अलग अलग दिशाओं के दरख्त अलग अलग एक तरफ बर्फ ही बर्फ जमी अनंत काली कभी पिछली नहीं दूसरी तरफ पत्थर ही पत्थर है ऐसे चिकने कि जिनसे चढ़ना मुश्किल जिनसे आदमी फिसल फिसल जाए जो आदमी एक दिशा से चलेगा वो खबर लाएगा पत्थरों ही पत्थरों की कितने पत्थरों की और जो आदमी दूसरी दिशा से चढ़ेगा वो खबर लाएगा सनातन जमी हुई बर्फ कुमारी बर्फ जिसको कभी किसी का स्पर्श नहीं हुआ दोनों की बातें मिलना पड़ेगी दोनों की बातें बड़ी विपरीत लगेंगी लेकिन दोनों जब शिखर की बात करेंगे तो अगर शिखर तक पहुंच सके हो तो बात एक हो जाएगी इसलिए सभी शास्त्रों में जो शिखर है वहां तो बात एक हो जाती है लेकिन शास्त्रों में सिर्फ शिखर ही नहीं है और बहुत कुछ कचरा कूड़ा भी है प्राथमिक बातें भी रास्ते का वर्णन भी वो बहुत अलग अलग है अगर गीता के शिखर को समझो तो वो वही है जो कुरान का वही है जो धर्मपद का वही है जो बाइबल का लेकिन रास्ते रास्ते के तरफ बड़े अलग अलग है बड़े भिन्न भिन्न ध्यान के मार्ग पर सब छूट जाता है बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा है अगर तुम्हारे मार्ग में कभी मैं आ जाऊं तो उठा के तलवार दो टुकड़े कर देना योग प्रीतम जरा भी ना सोचना की अकृतज्ञता हो रही सच तो ये है ध्यान के मार्ग पर मुझे भूल कर तुम तो मेरी बात को पूरा कर रहे हो मेरे उपदेश को पूरा कर रहे हो यही तो मैं कह रहा हूं यही कि तुम्हारे मार्ग पर अगर मैं आ जाऊं तो तलवार उठा के दो टुकड़े कर देना वहां तो कोई नहीं बचना चाहिए वहां तो बस केवल शून्य चैतन्य बचे निर्विकार निर्विकल्प निर्विचार निर्बीज उस शून्य में ही पूर्ण का अवतरण होगा मगर विचार की तरह नहीं अनुभव की तरह विचार की तरह नहीं भाव की तरह और वही तुम्हारी मेरे पत्नी कृतज्ञता होगी जिस दिन तुम उस ध्यान की समाधि को पालोगे वही तुम्हारा धन्यवाद होगा मैं याद आऊ ना आऊ ये सवाल नहीं तुमने ध्यान पा लिया अब और धन्यवाद क्या देना है धन्यवाद हो गया लेकिन भक्ति के मार्ग पर जब कीर्तन करोगे नाचोगे तो मुझे नहीं भूलोगे मैं तुम्हारे साथ नाचूंगा साथ साथ होगा नाच हाथ में हाथ होगा क्योंकि भक्ति के मार्ग पर दुई का अंगीकार है इसलिए तो भक्ति के मार्ग पर रस का आविर्भाव होता है प्रेम है भक्ति और प्रेम तो दो चाहता है ध्यान है शून्य शून्य में एक भक्ति है प्रेम प्रेम में तो तो भक्ति जब करोगे तब तो मेरी याद बनी रहेगी बस स्वाभाविक है इन दोनों में तुलना मत करना ये दोनों घाट अलग है और अगर दोनों घाटों में रस आता है तो कभी नौका बिहार इस घाट से कभी नौका बिहार उस घाट से फिक्र न करो दूसरा किनारा एक ही है दोनों के लिए मेरा आशीर्वाद है भक्ति के मार्ग पर मुझे याद करना ध्यान के मार्ग पर मुझे बिल्कुल भूल जाना जरा भी भेद नहीं है दोनों बातों दोनों ही अर्थों में तुम मेरे दृष्टि को मेरे दर्शन को पूरा कर रहे हो और अब रुकना नहीं अब रस आने लगा हो अब ठहरना नहीं अभी ऊर्जा है अभी उमंग है अभी उत्साह है अभी युवा हो अभी छोड़ दो ये नौका सागर मैं ना रुकूंगा आज संयम चुका मत है यौवन मैं ना चुकूंगा आज धारा में लहरें उठाई लहर लहर तूफानी सच के बंधन तोड़ पिया से मिलने चली दीवानी मन मत धारा बीच मगन है आज आज हृदय उमड़ कर ही सार्थक है वह बंधन क्या जाने कूलों को ढक लेते हैं लहरों के ताने बाने कूल न मिले भले लहरों से मैं न लुकूंगा आज कूल अकूल हृदय की गति है सोचना हिम्मत हारू सांसों का अदम्य उत्तेजन कैसे उसे बिसारू प्रलय तने जितना करना हो मैं न चुकूंगा आज मैं न रुकूंगा आज बढ़े चलो बढ़े चलो भक्ति ज्ञान प्रेम ज्ञान बढ़े चलो जगे चलो बैठ जाता हूं जहां छाव घनी होती हाय क्या चीज गरीबुल बतनी होती दिन को एक नूर बरसता है मेरी दुर्बत पर रात को चादरे में महताब तनी होती लुट गया वो तेरे कोचे में रखा जिसमें कदम इस तरह की भी कहीं राहजनी होती हिज्र में जहर है सागर का लगाना से मैं की जो बूंद है हीरे की कमी होती है मैं कसों को न कभी फिक्र कमोवेश हुई ऐसे लोगों की तबीयत भी गली होती है भूख उठती है अगर जब फुगा करता हूँ सांस रुकती है तो बच्ची की अली होती है किलो दो तो घूट कि साकी की रहे बात अभी साफ इनकार में खातिर समझनी होती योग प्रीतम ऐसी गली में आ गए जहां लुटना ही पड़ेगा लुट गया वो तेरे पूछे में रखा जिसने पता इस तरह की भी कहीं राहजनी होती है भारत अकेला देश है जिसने भगवान को एक नाम दिया हरि हरि का अर्थ होता है लुटेरा लूट ले जो हर ले जो हरि दुनिया की भाषाओं में भगवान के बहुत नाम सूफियों के पास सौ नाम है मगर नहीं कोई मुकाबला ऐसे हरि का सब नाम ठीक पड़ जाते कहो रहमान कहो रही दो बहुत नाम लेकिन हरि जैसा कोई नाम नहीं क्योंकि भगवान अगर वस्तु तक कुछ है तो लुटेरा है लूट लेता लुट गया वो तेरे कुचे में रखा जिसमें कदम इस तरह की भी कहीं रहस्य नहीं होती और लूट भी कोई लूट ऐसी लूट धन तो कोई छीन ले तो समझ में आता है लेकिन प्राण ही कोई ले जाए और एक बार ले गया तो ले गया फिर लौटता नहीं प्राण लेकिन फिक्र नहीं करते दीवाने मैं पशु को न कभी फिक्र कमोबेश हुई उन्हें चिंता ही नहीं होती उन्हें कमोबेश की भी चिंता नहीं होती कितना मिला कितना लूटा कितना बचा यह सब हिसाब किताब भी करती थी नहीं मैं पशु को न कभी फिक्र कमोबेश हुई ऐसे लोगों की तबीयत भी गनी होती ऐसे लोगों की तबीयत भी बड़ी उदार होती फेफड़ों की तबीयत बड़ी उदार होती अगर परमात्मा लूटना जानता है तो केकड़ लूटना भी जानते जीसस ने कहा है जो तुम्हारा कोट छीने कमीज भी उसे दे देना और जो तुम्हारे एक गाल पर चाटा मारे दूसरा गाल दूसरे सामने कर देना और जो तुमसे कहे एक मील तक मेरा बोझ ले चलो दो मील उसके साथ चले जाना ऐसे लोगों की तबीयत भी गली होती बड़ी उदार होती बड़ी छाती होती बड़ा दिल होता है लुट गए योग प्रीतम और दोहरी तरफ से लुट रहे हो ध्यान में भी और भक्ति में भी अब जरा तबीयत को गली करो अब जरा उदार बनो अब दिल खोल के लुटो लुटते लुटते बात बन जाएगी मिटते मिटते बात बन जाएगी ये बात मिटते मिटते ही बनती है लुटते लुटते ही बनती दर्द दिल कमी न हो जाए दोस्तों दुश्मनी न हो जाए तुम मेरी दोस्ती का दम न भरो आसमां मुद्दई न हो जाए बैठता है हमेशा रिंदों में कहीं शायद बलि न हो जाए ताला ए बद वहां भी सांस न दे मौत भी जिंदगी न हो जाए अपनी खुए बफा से डरता हूँ आश की बंदगी न हो जाए कहीं बेखुद तुम्हारी खुददारी दुश्मने बेखुदी न हो जाए बैठता है हमेशा रिंदों में कहीं साहित्य बलि न हो जाए पियक्कड़ों में आ गए योग प्रीतम जैन परिवार से तेरा पंथी जैन परिवार से सोचा भी ना होगा सपने में कि कभी किसी मधुशाला के हिस्से हो जाएंगे बैठता है हमेशा रिंदों में कहीं जाहिद वली ना हो जाए सही भी, भी अगर पियकड़ों के साथ बैठता रहे तो ऋषि हो जाते वली हो जाते तुम्हारे मुनियों को जो नहीं मिल रहा है तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें मिल रहा है आचार्य तुलसी जिससे वंचित है वो तुम पे बरस रहा है तुमने हिम्मत की रिंदों में बैठने की हिम्मत का परिणाम तो होता ही है उसका पुरस्कार तो मिलता ही बैठता है हमेशा रिंदो में कहीं जाहिद वली ना हो जाए अपनी खुए बफा से डरता हूँ आशकी बंदगी ना हो जाए आए और मेरे प्रेम में पड़ गए आशकी और फिर तुम्हें पता ही ना चला कब आशकी बंदगी होने लगी प्रेम कब प्रार्थना बन जाता है ये पता ही कहाँ चलता है प्रेम चुपचाप प्रार्थना बन जाता न कहीं शोरगुल होता न कहीं आवाज होती न कहीं कोई झुंडी पिटती जैसे चुपचाप उसकी बूंद सरक जाती है कमल के पत्तों से जैसे चुपचाप रात बेला या जूही का फूल खिल जाता है गंध बिखर जाती जरा सी भी आहट नहीं होती चरण चिन्हों की ऐसे चुपचाप ये क्रांति घट जाती है बस कोई आ जाए बैठ जाए थोड़ा खुला हो थोड़ा पक्षपातों से मुक्त हो थोड़ी चेतना हो बिल्कुल जड़ ना हो थोड़ी बुद्धिमत्ता हो थोड़ा बोध हो तो देर नहीं बनती देर नहीं लगती ऋषि हो जाना कठिन नहीं है हमारा स्वभाव है अब दोनों ही सदने दो ध्यान भी चले भक्ति भी चले रहे तलवार दुधारी दोनों तरफ धार रहे ये दोनों तुम्हें मिटा डालेंगे तुम तो खो जाओगे लेकिन फिर जो बचता है वही परमात्मा है आखिरी प्रश्न भगवान मैं आपका सन्यासी क्या हुआ बड़ा उपद्रव हो गया है पराए तो पराए अपने भी पराए हो गए मेरी मस्ती ही उनके क्रोध का कारण बन रही है अब मैं क्या करूं चिन्मयानंद अब और मस्त हो और क्या करोगे अब करने को और बचा क्या लौट सकते नहीं लौटने का उपाय ही नहीं कोई मस्त कभी लौटा नहीं कोई रास्ता ही नहीं लौटने का जो लौट जाए वो मस्त था ही नहीं मस्ती से कोई कैसे लौटेगा तो मस्ती बढ़ेगी इसमें नए नए अंकुर निकलेंगे नए नए पत्ते निकलेंगे नए नए फूल खिलेंगे जलने दो जलने वालों को शुरू शुरू में जलेंगे सदा से ये ऐसा ही होता रहा निंदा भी करेंगे विरोध भी करेंगे पत्थर भी फेंकेंगे मगर तुम अपनी मस्ती मत छोड़ो किसी कीमत पे मत छोड़ो मस्ती के लिए कभी भी भूल के समझौता मत करना सब गवा देना मस्ती मत गवाना क्योंकि मस्ती तो एकमात्र किरण जिसके सहारे परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है और अभी तो ये शुरुआत है आगे देखिए होता है क्या क्या अभी तो बहुत कुछ होगा अभी तो उन्होंने पत्थर नहीं मारे अभी तो कोई सूली नहीं लगा दी करते होंगे निंदा हंसते होंगे पीठ पीछे कि पागल हो गया इसे क्या हो गया भला चंगा आदमी कभी सोचा भी ना था कि ऐसी दुर्घटना और उसके जीवन में घटेगी लेकिन तुम्हारी मस्ती अगर बढ़ती ही रही बढ़ती ही रही तो जो निंदा कर रहे हैं वे ही कल प्रशंसा करने लगेंगे एक धम्मो सनातनो ऐसा ही सनातन धर्म पहले निंदा करते फिर प्रशंसा करते और मस्ती बढ़ती ही रहे ख्याल करना कुछ लोग तो निंदा में ही डर जाते हैं सिकुड़ जाते और घबरा जाते तो बस निंदा ही बनी रह जाती जो निंदा की चिंता नहीं करते जो बेपरवाही नाचते और गाते बढ़ते ही चले जाते जितनी गालियां पड़ती उतनी ही वो मृदंग बजाते उतनी ही वीणा छेड़ देते वो प्रशंसा सुनिश्चित है वे ही लोग जो निंदा करते थे वही प्रशंसा करने लगते लोग बड़े अजीब है वही लोग कहने लगते हैं हमने तो पहले ही कहा था वे ही लोग याद में पहुंच गया लेकिन प्रशंसा पर भी रुक मत जाना निंदा भी रोक सकती निंदा से भी ज्यादा प्रशंसा रोक सकती क्योंकि प्रशंसा अहंकार को भर देती अगर तुम प्रशंसा पे भी ना रुको तो वही लोग तुम्हारे रंग में भी रंगने लगेंगे न निंदा पर रुकना न प्रशंसा पर तो तुम उनके जीवन में क्रांति का एक उद्घोष बन जाओगे हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली डांका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की ना तजर्बा कारी से वाइस की ये बातें हैं इस रंग को क्या जाने पूछो तो कभी पी है उस मैं से नहीं मतलब दिल जिससे है बेगाना मकसूद है उस मैं से दिल ही में जो खिंचती है वहां दिल में कि सदमे दो या जी में कि सब सह लो उनका भी अजब दिल है मेरा भी अजब जी है हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है बुत तो हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी घबराओ मत हंगामा तो मचेगा थोड़े से पीने से मच जाता है अभी तो बहुत पीना है हंगामा है क्यों बर्फा थोड़ी सी जो पीली है डांका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की अपने दरवाजे पे थकती लगा के टांग देना हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली डांका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की और जो कर रहे हैं निंदा उनकी निंदा का मूल्य क्या न तजुर्बा कारी से वाइज की ये बातें ये बड़े बुद्धिमान जो बने बैठे पंडित पुरोहित त्यागी तपस्वी इनको कोई तजुर्बा है इनको कोई अनुभव है ना तजुर्बा कारी से वाइज की ये बात है माफ करो इनको क्षमा करो इनको ध्यान भी ना दो इन पर बेचारे ना तजुर्बा कार है इन्हें कोई अनुभव नहीं ना तजुर्बा कारी से वाइज की ये बातें हैं इस रंग की इस रंग को क्या जाने पूछो तो कभी पी है कभी नाचे हैं मस्त होकर कभी प्रार्थना में डूबे हैं कभी किसी सदगुरु के सत्संग में डूबे हैं डुबकी मारी है इनकी बातों का क्या मूल्य और फिर यहाँ कौन अपना है जिनमें आनंद और कौन पराया है यहाँ न कोई अपना है न कोई पराया है सब मन को समझा लेने की बातें सब खेल है सपना बस सपना से सब तुम तो अपनी मस्ती की आंख को अब आकाश की तरफ उठाओ चांदारों की तरफ उठाओ फिक्र छोड़ो इनकी भोंकते हैं भोंकने दो तुम अपनी चाल थोड़ी खराब करोगे हाथी कहीं पीछे दौड़ता है कुत्तों के कि चले के कुत्ते का पीछा करने लगे ऐसे में नाहक हाथी की भद्द हो जाए कुत्ते भी हंसे कि हाथी बहुत देखे मगर ऐसा हाथी नहीं देखे हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही जरा मस्ती की आंख का ऊपर उठाओ तो दिखाई पड़ेगा कि हर कण जीवन का कण कण हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से ईश्वरी ज्योति से जगमग हो रहा है हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है डुबकी मारो भीतर डुबकी मारो चांदारों में बाहर और डुबकी मारो भीतर भीतर के आकाश में और तुम्हारे भीतर ही ये ध्वनि उठनी शुरू होगी हर सांस ये कहती हम हैं तो खुदा भी है अब क्या फिक्र लोगों की अब अगर फिक्र है किसी की तो खुदा की करनी लोगों को पता क्या है विचारों को पता क्या है खुद भटके और अगर कभी कोई ठीक रास्ते पर लग जाए तो सोचते भटक गया लेकिन भीड़ उनकी है इसलिए अगर वोट से तय करना हो तो वही जीत जाएंगे कितने लोग गौतम बुद्ध को वोट देते और कितने लोग जीसस को वोट देते सौ दो सौ भी देने वाले नहीं मिलते वोट जीसस को लाखों मिल जाते खिलाफ वोट देने वाले क्यों भीड़ अंधों की है आंख वाले यहां कितने और आंख वाले को आंख वाले ही पहचान सकते हैं सूरज में लगे डब्बा फितरत के करिश्मे है हंसने दो लोग तो सूरज पे भी धब्बे डालते हैं लोगों की तो आदत ही धब्बे डालने की है सूरज पे लगे धब्बा फितरत के करिश्मे समझना कि बड़ा चमत्कार बड़ा करिश्मा सूरज पे लगे धब्बा फितरत के करिश में है बुद्ध हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी खुद जो काफिर है खुद जो कुफ से भरे जिन्हें धर्म का कुछ भी पता नहीं वो जो जानते जो जानने लगे या जानने के मार्ग पर चल पड़े जिन्होंने थोड़ी थोड़ी पीनी शुरू कर दी वो उनकी निंदा कर रहे हैं चमत्कार है चिंता न लेना हंसना और आगे बढ़ जाना धन्यवाद देना और आगे बढ़ जाना सन्यासी को इतनी तैयारी तो चाहिए ही सन्यास एक अग्नि परीक्षा आज इतना है